वो मैं तरबूज देने आई थी माँ हॉस्पिटल से वापस आ गई है ना तो उन्होंने आपके लिए तरबूज भेजा है ताजा है खा लेना रिया ने बताया तभी उसकी नजर किचन में खड़ी दोनों औरतों पर पड़ी उन्हें देखते ही रिया चौंक उठी उसने विक्रांत को खींचकर एक कोने में किया और बोल पड़ी सर सर ये दोनों कौन है किसको किसको ले आते हैं आप पापा को पता चला तो वो आपका सामान बाहर फेंक देंगे ओहो विक्रांत ने अपना सिर पकड़ लिया ये मेरी माँ है और वो दूसरी मेरी वाइफ मतलब होने वाली वाइफ हाँ गर्लफ्रेंड है मेरी ओह सर जी क्या बात है क्या बात है विक्रांत को चढ़ाते हुए रिया ने कहा अरे आंटी जी नमस्ते कैसी हैं आप दादी बोल दादी बोल दादी विक्रांत ने रिया के सिर पे धीरे से मारते हुए कहा ठीक हूँ मैं और दादी दादी वादी मत बोलना मेरे को हम्म, माँ ने रिया को देखकर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा वो उसे यहाँ पर देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी वो विक्रांत को भी गुस्से से भरी नजरों से घूने लगी अरे आप तो पुलिस ऑफिसर हैं रिया ने नैना की तरफ देखते हुए कहा अच्छा हुआ आप यहाँ चले आई हैं हाँ ठीक है अब हो गया ना काम विक्रांत जल्द से जल्द रिया को यहाँ से विदा करना चाहता था अरे सर वो शेरलॉक होम्स कहाँ है मैं उसे लेने आई हूँ एक्चुअली मेरे एग्जाम आने वाले हैं तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा इसीलिए मैं सोच रही थी कि कुछ दिन के लिए उसे मैं अपने साथ ले जाऊँ फिर अब एग्जाम आ जाएगा तो फिर टाइम नहीं मिलेगा मुझे रिया ने विक्रांत से कहा हाँ हाँ क्यों नहीं ले जाओ हे ए शेरलॉक देखो कौन आया जल्दी आओ रिया दीदी आई हैं तुझे लेने है शेलॉक शेलॉक भी अपनी दुम हिलाता हुआ तेजी से चला है फिर वो रिया के चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगाते हुए भौंकने लगा रिया ने पहले उसे थोड़ा पुचकारा और फिर जल्द ही उसे लेकर बाहर चली गई विक्रांत ने अब राहत की सांस ली लेकिन अब माँ का लेक्चर फिर से शुरू हो गया अब ये लड़की कौन थी और ये कैसे तेरे घर में घुसी चली आ रही थी जरा सी भी लाश शर्म नहीं है आजकल की लड़कियों को राम राम राम अरे माँ क्या बोल रही हो वो मकान मालिक की बेटी है तो ऐसे तेरे घर में घुस आएगी और ये तेरे कुत्ते को इतना कैसे पहचानती है हाँ? माँ ने विक्रांत से पूछा नैना बेटी ये वही लड़की है ना अरे जो जो तू अभी बता रही थी नैना भी बिना कुछ कहे अपना सिर हिलाकर हामी भर दिया इसके बाद तो विक्रांत की तरफ देखकर मुस्कुरा पड़ी विक्रांत भी उसे आंख दिखाकर रोकने की कोशिश करने लगा हे भगवान इस लड़के को पता नहीं क्या हो गया है जब तक ये मेरे साथ था तब तो इतना सीधा साधा था यहाँ शहर में आकर बर्बाद हो गया अब मैं क्या करूँ इसका माँ ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और फिर वो किचन से निकलकर लॉबी में पड़े सोफे पर आकर बैठ गई अरे माँ विक्रांत माँ को समझाने की कोशिश कर रहा था कि तभी नैना भी आकर माँ के बगल में बैठ गई लग रहा अभी उसके कलेजे को ठंडक नहीं पहुंची है बेटा बेटा तू मुझसे वादा कर तू इसको सही रास्ते पर ले आएगी अब तो मैं इसको नहीं सुधार सकती तू ही इसको सुधार बस अब जल्दी से जल्दी इसकी शादी करवानी है मुझे हाँ माँ वो तो ठीक है लेकिन पता है आपको मैंने एक बार देखा था कि ये एक नर्स को यहाँ अपने घर पर ले आया था और वो इसके साथ बेडरूम में थी बहना माँ का कान भरने का एक भी कसर नहीं छोड़ रही थी वो आज विक्रांत की भरपूर क्लास लगवा रही थी हाँ ऐसा हे भगवान माँ ने अपना सिर पकड़ लिया विक्रांत तुझे मेरी कसम तू सच सच बता मुझे तेरा किसी के साथ कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा ना अरे नहीं माँ ऐसा नहीं है विक्रांत फिर से अपनी सफाई पेश करने लग गया तभी फिर से दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई अब तो ऐसा लग रहा था जैसे विक्रांत के लिए यमराज ने दस्तक दे दी थी वो मन ही मन सोचने लगा भगवान आज तो लग रहा है जान लेके ही मानेगा तू बस अब ये कहीं से जिया ना टपक जाए अगर ये जिया हुई तो मैं आज ही मर जाऊंगा जब दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी तो फिर विक्रांत के साथ ही नैना और माँ भी अवाक रह गई समझ नहीं आ रहा था कि आज ही सब एक के बाद एक आ रहे हैं या फिर रोजाना विक्रांत के घर ऐसे आना जाना लगा रहता है नैना तो सबसे ज्यादा हैरानी में थी अभी थोड़ी देर पहले उसने दो बार जो बात कही तुरंत ही वो हो चुका था इस बार उसने नर्स का नाम लिया था कहीं ऐसा ना हो कि वो नर्स भी यहाँ आकर खड़ी हो जाए विक्रांत खुद काफी डरा हुआ था अगर यहाँ पर जिया आ गई तब तो विक्रांत सदमे से ही मर जाएगा डरते डरते वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा कौन कौन है वहाँ दरवाजा खोलने से पहले विक्रांत आने वाले मेहमान की पहचान क्लियर कर लेना चाहता था विक्रांत के जवाब में बाहर से ये सख्त सी आवाज सुनाई पड़ी मैं पोर्नोग्राफी और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से हूँ दरवाजा खोला जल्दी भागने की कोशिश मत करना हाँ ये क्या है तो तू तो ये सब भी करने लग गया हे भगवान माँ ने अपना सिर पकड़ लिया और वो रोने की मुद्रा में आ गई हे भगवान ये लड़का मुझसे झूठ बोलता रहा कि मैं पुलिस में हूँ ये तो हे भगवान इसके पीछे तो पुलिस लगी हुई है अरे यार संभालो इन्हें कोई विक्रांत ने माँ को परेशान होते देख अपना सिर पकड़ लिया लेकिन दूसरी तरफ वो हैरान भी था कि आखिर मुंबई में कौन सा पुलिस वाला इतना पावरफुल हो गया है कि उसे अरेस्ट करने चला आया विक्रांत ने लपक कर दरवाजा खोला तो वहां पर अमित खड़ा था ओए विक्रांत ने राहत की सांस लेते हुए कहा हार्ट अटैक करवाओगे क्या हाँ हा डर गए सर अमित ने हंसते हुए कहा सर उस कमीने ने अपना काम शुरू कर दिया है हर जगह से अपने आदमी तैयार कर रहा है इतना कहते कहते अमित अंदर दाखिल हो गया वहां नैना को देख वो दंग रह गया उससे भी ज्यादा हैरानी इस बात पे हुई कि नैना इस वक्त विक्रांत की किचन में खड़ी मोमोज बना रही है मैडम अमित ने कांपते हुए सैल्यूट किया आ, आंटी जी नमस्ते फिर उसकी नजर माँ की तरफ देख पड़ी ए, पेरेंट्स मीट अच्छा है अच्छा है गुड गुड गुड अमित अब तक काफी नर्वस हो चुका था दरअसल जब विक्रांत अपने जिम वाले डील के सिलसिले में खालिद सिद्दीकी से मिलकर आया था तो उसके बाद ही अमित को खालिद पर नजर रखने के लिए लगा दिया गया था तो अमित अभी खालिद की ही रिपोर्ट देने के लिए यहाँ आया हुआ था लेकिन यहाँ का नजारा देखकर दंग रह गया अपनी कैप्टन मिस नैना ग्रेवाल को टीम लीडर विक्रांत सक्सेना के किचन में मोमोज बनाते देख अमित के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा